Osho talk Es Dhammo Sanantano number eleven जिसकी तुम आकांक्षा करोगे उससे ही तुम वंचित रहोगे एस धम्मो सनंतनो जिसको तुम स्वीकार कर लोगे उससे ही तुम मुक्त हो जाओगे जिसको तुम मांगोगे नहीं वो तुम्हारे पीछे आने लगता है और जिसको तुम मांगते हो वो दूर हटता चला जाता है तुम्हारी मांग हटाती है दूर है हुसूले आरजू का राज तरके आरजू मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे जीवन में सफलता का राज आकांक्षा की सफलता का राज यही है कि आकांक्षा छोड़ दी है हुसूले आरजू का राज तर्क आरजू मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे तुमने अगर अक्रोध को पाने की दौड़ छोड़ दी तुम क्रोध को स्वीकार कर लिए था करोगे क्या छिपाओगे कहां किससे छिपाना है छिपा के ले जाओगे कहां अपने ही भीतर और समा जाएगा और जड़ें गहरी हो जाएंगी हिंसक थे हिंसा स्वीकार कर ली और तुम अचानक हैरान होगे हिंसा गई और अहिंसा उपलब्ध हो गई जिसको भी पाने की तुम दौड़ करोगे वही ना मिलेगा अहिंसक होना चाहोगे अहिंसक ना हो पाओगे शांत होना चाहोगे शांत न हो पाओगे सन्यासी होना चाहोगे सन्यासी ना हो पाओगे जो होना है वो चाहे से नहीं होता चाहे से चीजें दूर हटती जाती चाहे बाधा है तुम जो हो बस उसी के साथ राजी हो जाओ तुम तथ्य से जरा भी ना हटो तुम भविष्य में जाओ ही मत तुम वर्तमान को स्वीकार कर लो मैंने दुनिया छोड़ दी मिल गई दुनिया मुझे भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम जब हमें नफरत हुई वह बेकरार आने को है तुम जिसके पीछे जाओगे तुम्हारे पीछे जाने से ही तुम उसे अपने पीछे नहीं आने देते तुम पीछे जाना बंद करो तुम खड़े हो जाओ और जो तुमने चाहा था जो तुमने मांगा था वो बरस जाएगा लेकिन वो बरसता तभी जब तुम्हारे भीतर भिखारी का पात्र नहीं रह जाता मांगने वाले का पात्र नहीं रह जाता जब तुम सम्राट की तरह खड़े होते हो इसको ही मैं मालिक होना कहता हूं तुम जो भी हो वही हो के तुम मालिक हो सकते हो तुमने कुछ और होना चाहा तो तुम कैसे मालिक हो सकते हो तब तो मांग रहेगी और तुम भिखारी रहोगे आज अभी इसी क्षण तुम मालिक हो सकते हो मांग छोड़ते ही आदमी मालिक हो जाता है और थोड़ी मालिक होने का कोई उपाय है तुम अगर मुझसे पूछो कैसे फिर तुम चूके क्योंकि तुमने फिर मांग के लिए रास्ता बनाया तुमने कहा कि ठीक कहते हैं मालिक तो मैं भी होना चाहता हूं मैं तुमसे कहता हूं तुम हो सकते हो इसी क्षण तुम हो आंख भर खोलने की बात तुम कहते हो कि होना तो मैं भी चाहता हूं जो तथ्य है तुम उसे चाह बनाते हो चाह बना के तुम तथ्य को दूर हटाते हो फिर तथ्य जितना दूर हटता जाता है उतनी तुम ज्यादा चाह करते हो जितनी ज्यादा तुम चाह करते हो उतना तथ्य और दूर हट जाता है क्योंकि चाह से तथ्य का कोई संबंध कैसे जुड़ेगा तथ्य तो है और चाह कहती है होना चाहिए इन दोनों में कहीं मेल नहीं होता बुद्ध का शास्त्र है कि तुम तथ्य को देखो और जो है उस रत्ती भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना यही कृष्णमूर्ति का पूरा सार संचय है कि तुम जो हो उससे रत्ती भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना हो वही हो उससे भिन्न जाने की चेष्टा की कि भटके उससे विपरीत जाने की चेष्टा की कि फिर तो तुमने अनंत दूरी पर कर दी मंजिल स्वीकार में तथाता में क्रांति है जिस प्रकार जलाशय से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है उसी प्रकार यह चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है ये उनकी उस दिन की भाषा है इसको आज की भाषा में रखना पड़े जिस प्रकार जलाशय से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती जलाशय यानी तथ्य जो है जो मछली का जीवन है उससे निकाल के उसे तट पे फेंक दिया और जिससे मछली तड़फड़ाती है उसी प्रकार यह चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता मार का फंदा क्या है आकांक्षा का मार का फंदा क्या है आशा का मार का फंदा क्या है कुछ होने की आकांक्षा और दौड़ जीसस के जीवन में उल्लेख है कि जब 40 दिन के ध्यान के बाद वे परम स्थिति के करीब पहुंचने लगे तो शैतान प्रकट हुआ वो शैतान कोई और नहीं है वो तुम्हारा मन है जो मरते वक्त ऐसे ही भबक के जलता है जैसे बुझते वक्त दिया आखिरी लपट लेता है मन का अर्थ है वही जो अब तक तुमसे कहता था कुछ होना है कुछ होना है जो तुम्हें दौड़ाए रखता था ध्यान की आखिरी घड़ी आने लगी जीसस की मन मौजूद हुआ जीसस की भाषा में शैतान बुद्ध की भाषा में मार मन ने कहा तुम्हें जो बनना हो मैं बना दूं जीसस से कहा तुम्हें जो बनना हो मैं बना दूं सारे संसार का सम्राट बना दूं तीनों लोगों का सम्राट बना दूं तुम बोलो तुम्हें जो बनना हो मैं तुम्हें बना दूं जीसस मुस्कुराए और उन्होंने कहा तू पीछे हट शैतान पीछे हट क्या मतलब है जीसस का जीसस ये कह रहे हैं अब तू और जख्मे मध्य बनाने के बनने के अब तो जो मैं हूं पर्याप्त है तू पीछे हट तू मुझे राह दे बुद्ध जब परम घड़ी के करीब पहुंचने लगे तो वही घटना है मार मौजूद हुआ मार यानी मन और मन ने कहा अभी मत छोड़ो आशा क्योंकि उस सांझ बुद्ध संसार से तो छह साल पहले मुक्त हो गए थे छह साल से वो मोक्ष की तलाश में लगे थे और छह साल में थक गए क्योंकि तलाश से कभी कुछ मिला ही नहीं है बुद्ध को नहीं मिला तुम्हें कैसे मिले तलाश तो भटकने का उपाय है पहुंचने का नहीं उस दिन वो थक गए तलाश से भी मोक्ष की भी व्यर्थ मालूम पड़ा संसार तो व्यर्थ था आज मोक्ष भी व्यर्थ हो गया उन्होंने सांझ जिस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बाद वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए अपना सिर टेक दिया और उन्होंने कहा कुछ पाना नहीं है मार उपस्थित हुआ उसने कहा इतनी जल्दी आशा मत छोड़ो अभी बहुत कुछ किया जा सकता है अभी तुमने सब नहीं कर लिया है अभी बहुत साधन शेष है मैं तुम्हें बताता हूं लेकिन बुद्ध ने उसकी एक ना सुनी वो लेटे ही रहे वो विश्राम में ही रहे मार उन्हें पुनः न खींच पाया दौड़ में मार ने सब तरह से चेष्टा की कि अभी मोक्ष को पाने का यह उपाय हो सकता है सत्य को पाने का यह उपाय हो सकता है वो उपेक्षा से देखते रहे जीसस ने तो इतना भी कहा था शैतान से हट पीछे बुद्ध ने उतना भी ना कहा क्योंकि हट पीछे में भी जीसस थोड़े तो हार गए बुद्ध ने इतना भी ना कहा बौद्ध शास्त्र कहते हैं बुद्ध सुनते रहे उपेक्षा से इतना भी रस न लिया कि इंकार भी करें इंकार में भी रस तो होता ही है स्वीकार भी रस है इंकार भी रस है बुद्ध ने जीसस से भी बड़ी प्रौढ़ता का प्रदर्शन किया उससे भी बड़ी प्रौढ़ता का सबूत दिया बुद्ध सुनते रहे मार थोड़ी बहुत देर चेष्टा किया बड़ा उदास हुआ यह आदमी कुछ बोलता ही नहीं यह इतना भी नहीं कहता कि हट यहां से मुझे डुबाने की कोशिश मत कर अब मुझे और मत भटका इतना भी बुद्ध कहते तो भी थोड़ा चेष्टा करने की जरूरत थी लेकिन इतना भी ना कहा कहते मार उस रात विदा हो गया इस आदमी से सब संबंध छूट गए यही घड़ी है समाधि की जब तुम मन के विपरीत भी नहीं जब तुम मन से यह भी नहीं कहते तू जा तुम मन से यह भी नहीं कहते कि अब बंद भी हो अब विचार ना कर अब मुझे शांत होने दे इतना भी नहीं कहते तभी तुम शांत हो जाते हो क्योंकि मन फिर तुम्हारे ऊपर कोई कब्जा नहीं रख सकता इतना भी बल मन का ना रहा कि वो तुम्हें अशांत कर सके इतना भी बल मन का ना रहा कि वो तुम्हारे ध्यान में बाधा डाल सके तुम मन के पार हो गए उसी रात सुबह भोर के तारे के साथ आखिरी तारा डूबता था और बुद्ध परम प्रज्ञा को उपलब्ध हुए जिस प्रकार जलाशय से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती ऐसे ही तुम तड़फड़ा रहे हो चित्त तड़फड़ा रहा है क्योंकि तथ्य और सत्य के जलाशय के बाहर आशा के तट पर पड़े हो कुछ होना है ऐसा भूत सवार है जो हो उसके अतिरिक्त तो हो कैसे सकोगे कुछ जो हो वही हो सकते हो उसके बाहर उसके पार कुछ भी नहीं है लेकिन मन पर एक भूत सवार है कुछ होना है गरीब हैं तो अमीर होना है बीमार हैं तो स्वस्थ होना है शरीरधारी हैं तो अशरीरधारी होना है जमीन पर हैं तो स्वर्ग में होना है संसार में है तो मोक्ष में होना है कुछ होना है बिकमिंग है से संबंध नहीं है होने से संबंध है होना ही मार है होना ही शैतान है और होने के तट पर मछली जैसा तुम तड़फड़ाते हो लेकिन तट छोड़ते नहीं जितने तड़फड़ाते हो उतना सोचते हो तड़फड़ाहट इसीलिए है कि अब तक हो नहीं पाया जब हो जाऊंगा तड़फड़ाहट मिट जाएगी और दौड़ने लगते हो तर्क की भ्रांति तुम्हें और तट की तरफ सरकाया ले जाती जबकि पास ही सागर है तथ्य का उसमें उतरते ही मछली राजी हो जाती उसमें उतरते ही मछली की सब बेचैनी खो जाती इतने ही करीब जैसे तट पर तड़फती मछली उससे भी ज्यादा करीब तुम्हारा सागर है जिस प्रकार जलाशय से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है उसी प्रकार ये चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है लेकिन हर तड़फड़ाहट इसे फंदे में उलझाए चली जाती है क्योंकि तड़फड़ाहट में भी यह मार की भाषा का ही उपयोग करता है समझ का नहीं वहां भी वासना का ही उपयोग करता है दुकान पर बैठे लोग दुखी हैं जो पाना था नहीं मिला मंदिर में बैठे लोग दुखी हैं जो पाना था नहीं मिला जीसस के जीवन में उल्लेख हुए गांव से गुजरे उन्होंने कुछ लोगों को छाती पीटते रोते देखा पूछा कि क्या मामला है किस लिए रो रहे हो कौन सी दुर्घटना घट गई उन्होंने कहा कोई दुर्घटना नहीं घटी हम नरक के भय से घबरा रहे कहां है नरक मगर मन ने नरक के भय खड़े कर दिए उनसे घबरा रहे हैं जीसस थोड़े आगे गए उन्होंने कुछ और लोग देखे जो बड़े उदास बैठे थे जैसे मंदिरों में लोग बैठे रहते बड़े गंभीर जीसस ने पूछा क्या हुआ तुम्हें कौन सी मुसीबत आई कितने लंबे चेहरे बना लिए क्या हो गया उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हम स्वर्ग की चिंता में चिंता तो रहे स्वर्ग मिलेगा या नहीं जिस और आगे बढ़े उन्हें एक वृक्ष के नीचे कुछ लोग बड़े प्रमुदित बड़े शांत बड़े आनंदित बैठे मिले उन्होंने कहा तुम्हारे जीवन में कौन सी रसदार आ गई तुम इतने शांत इतने प्रसन्न इतने प्रफुल्लित क्यों हो उन्होंने कहा हमने स्वर्ग और नरक का ख्याल छोड़ दिया स्वर्ग है दुख स्वर्ग है सुख जो तुम पाना चाहते हो नरक है दुख जिससे तुम बचना चाहते हो दोनों भविष्य दोनों कामना में दोनों मार के फंदे जब तुम दोनों को ही छोड़ देते हो अभी और यही जिससे मोक्ष कहो निर्वाण कहो वो उपलब्ध हो जाता है निर्गुण तुम्हारा स्वभाव है तुम जो हो उसमें ही तुम उसे पाओगे होने की दौड़ में तुम उससे चूकते चले जाओगे सुलगना और जीना सुलगना और जीना यह कोई जीने में जीना है लगा दे आग अपने दिल में दीवाने धुआं कब तक ये जो होने की आकांक्षा है इससे आग नहीं पैदा होती सिर्फ धुआं ही धुआं पैदा होता है बुद्ध का वचन है कि वासना से भरा चित्त गीली लकड़ी की भांति है उसमें आग लगाओ तो लपट नहीं निकलती धुआं ही धुआं निकलता है लकड़ी जब सूखी होती है तब उससे लपट निकलती है जब तक वासना है तुम्हारी समझ में तुम्हारे जीवन में आग ना होगी तुम्हारे जीवन में रोशनी और प्रकाश ना होगा धुआं ही धुआं होगा अपने ही धुएं से तुम्हारी आंखें खराब हुई जा रही अपने ही धुएं से तुम देखने में असमर्थ हुए जा रहे अंधे हुए जा रहे अपने ही धुएं से तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी और जीवन का सत्य तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है सुलगना और जीना यह कोई जीने में जीना है लगा दे आग अपने दिल में दीवाने धुआं कब तक लेकिन धुआं तब तक उठेगा ही जब तक कोई भी वासना का गीलापन तुम में रह गया लकड़ी जब तक गीली है धुआं उठेगा लकड़ी से धुआं नहीं उठता गीलेपन से धुआं उठता है लकड़ी में छिपे जल से धुआं उठता है तुमसे धुआं नहीं उठ रहा है तुम्हारे भीतर जो वासना की आर्द्रता है गीलापन है उससे धुआं उठ रहा है त्यागी बुद्ध ने उसको कहा है जो सूखी लकड़ी की भांति है जिसने वासना का सारा ख्याल छोड़ दिया जिसका चित्त अस्थिर है जो सद्धर्म को नहीं जानता है और जिसकी श्रद्धा डमाडोल है उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती अब मुझको करार तो सबको करार है दिल क्या ठहर गया कि जमाना ठहर गया अब मुझे चैन मिल गई तो सबको चैन मिल गई तुम्हारा संसार तुम्हारा ही प्रक्षेपण है अगर तुम बेचैन हो तो सारा संसार तुम्हें चारों तरफ बेचैन मालूम पड़ता है अगर तुमने शराब पी ली है और तुम्हारे पैर डगमगाते हैं तो तुम्हें रास्ते के किनारे खड़े मकान भी डगमगाते दिखाई पड़ते हैं रास्ते पे जो भी तुम्हें दिखाई पड़ता है वो डगमगाता दिखाई पड़ता है जिसका चित्त अस्थिर है वो जिस संसार में जिएगा वो क्षणभंगुर होगा चंचल होगा संसार चंचल नहीं है तुम्हारे मन के डमाडोल होने के कारण सब डमाडोल दिखाई पड़ता है अब मुझको करार तो सबको करार है दिल क्या ठहर गया कि जमाना ठहर गया तुम ठहरे कि सब ठहर गया तुम रुके कि सब रुक गया तुम चले कि सब चल पड़ता है तुम्हारा संसार तुम्हारा ही फैलाव है तुम ही हो तुम्हारे संसार जिसका चित्त अस्थिर है उसका सब अस्थिर होगा जब भीतर की ज्योति ही डगमगा रही है तो तुम्हें सब डगमगाता दिखाई पड़ेगा कभी तुमने ख्याल किया घर में दिया जल रहा हो और उसकी ज्योति डगमगाती हो तो सब तरफ छायाएं डगमगाती हैं दीवार पर बनते हुए बिंब डगमगाते हैं सब चीजें डगमगाती हैं छाया ठहर जाएगी अगर ज्योति ठहर जाए और छाया को ठहराने की कोशिश में मत लग जाना छाया को कोई नहीं ठहरा सकता तुम कृपा करके ज्योति को ही ठहराना लोग संसार से मुक्त होने में लग जाते हैं कहते हैं क्षणभंगुर है चंचल है आज है कल नहीं रहेगा ये सब तुम्हारे भीतर के कारण तुम्हारा मन डमाडोल है इसलिए सारा संसार डमाडोल है तुम ठहरे ये सब ठहरा तुम ठहरे कि जमाना ठहर गया जो सद्धर्म को नहीं जानता है जिसकी श्रद्धा डमाडोल है अब ये बड़े मजे की बात है बुद्ध कह रहे हैं बुद्ध कह रहे हैं जो सद्धर्म को नहीं जानता उसकी ही श्रद्धा डमाडोल है सारे धर्मों ने श्रद्धा को पहले रखा है बुद्ध ने ज्ञान को पहले रखा है वो कहते हैं सद्धर्म को जानोगे तो श्रद्धा ठहरेगी और धर्मों ने कहा श्रद्धा करोगे तो सद्धर्म को जानोगे और धर्मों ने कहा है मानोगे तो जानोगे बुद्ध ने कहा है जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे जानोगे तो ही मानोगे बुद्ध की बात इस सदी के लिए बहुत काम की हो सकती ये सदी बड़ी संदेह से भरी है इसलिए श्रद्धा की तो बात ही करनी फिजूल है जो कर सकता है उससे कहने की कोई जरूरत नहीं जो नहीं कर सकते उनके से कहना बार बार कि श्रद्धा करो व्यर्थ है वो नहीं कर सकते वो क्या करें तुम श्रद्धा की बात करो तो उस पर भी उन्हें शक आता है शक आ गया तो आ गया हटाने का उपाय नहीं और शक आ चुका है यह सदी संदेह की सदी है इसलिए बुद्ध का नाम इस सदी में जितना मूल्यवान मालूम होता है किसी का भी नहीं उसका कारण यही है जीसस या कृष्ण बहुत दूर मालूम पड़ते क्योंकि श्रद्धा से शुरुआत है श्रद्धे नहीं जमती तो शुरुआत ही नहीं होती पहला कदम ही नहीं उठता बुद्ध कहते हैं श्रद्धा की फिक्र छोड़ो जान लो सब धर्म को तथ्य को और जानने का उपाय है स्थिर हो जाओ बुद्ध ने यह कहा है कि ध्यान के लिए श्रद्धा आवश्यक नहीं है ध्यान तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है इसलिए तुम ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो कुछ प्रयोजन नहीं बुद्ध कहते हैं तुम ध्यान कर सकते हो ध्यान तुम करोगे तुम भीतर स्थिर होने लगोगे उस स्थिरता के लिए किसी ईश्वर का आकाश में होना आवश्यक ही नहीं है ईश्वर ने संसार बनाया या नहीं बनाया इससे उस ध्यान के थिर होने का कोई लेना देना नहीं है ध्यान का थिर होना तो वैसे ही है जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला और पानी बन जाए तो कोई वैज्ञानिक नहीं कहता कि पहले ईश्वर को मानो तब पानी बनेगा ध्यान तो एक वैज्ञानिक प्रयोग है तुम भीतर थिर होने की कला को सीख जाओ सद्धर्म से परिचय होगा परिचय से श्रद्धा होगी इसलिए बुद्ध जितने करीब हैं इस सदी के और कोई भी नहीं क्योंकि यह सदी संदेह की और बुद्ध ने श्रद्धा पर जोर नहीं दिया बोध पर जोर दिया है जो सद्धर्म को नहीं जानता और जिसकी श्रद्धा डमाडोल है होगी ही उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती बुद्ध शर्त नहीं दे रहे हैं बुद्ध केवल तथ्य दे रहे हैं बुद्ध कहते हैं ये तथ्य सद्धर्म का बोध हो श्रद्धा होगी श्रद्धा हो परिपूर्णता होगी प्रज्ञा परिपूर्ण होगी ऐसा ना हो तो प्रज्ञा परिपूर्ण ना होगी और जब तक प्रज्ञा परिपूर्ण ना हो जब तक तुम्हारा जानना परिपूर्ण ना हो तुम्हारा जीवन परिपूर्ण नहीं हो सकता जानने में ही छिपे हैं सारे स्रोत क्योंकि मूलतः तुम ज्ञान हो ज्ञान की शक्ति हो मूलता तुम बोध हो इसी से तो हमने बुद्ध को बुद्ध कहा बोध के कारण नाम तो उनका गौतम सिद्धार्थ था लेकिन जब वे परम प्रज्ञा को और बोध को उपलब्ध हुए तो हमने उन्हें बुद्ध कहा तुम्हारे भीतर भी बोध उतना ही छिपा है जितना उनके भीतर था वो जग जाए तुम्हारे भीतर भी बुद्धत्व का आविर्भाव होगा और जब तक यह ना हो तब तक चैन मत लेना तब तक सब चैन झूठी है सांत्वना मत कर लेना तब तक सांत्वना संतोष नहीं है तब तक तुम मार्ग में ही रुक गए मंजिल के पहले ही किसी पड़ाव को मंजिल समझ लिया जिसका चित्त अस्थिर है जो सद्धर्म को नहीं जानता और जिसकी श्रद्धा डमाडोल है उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती और प्रज्ञा परिपूर्ण ना हो तो तुम अपूर्ण रहोगे और तुम अपूर्ण रहो तो अशांति रहेगी और तुम अशांत रहो तो दो ही उपाय एक कि तुम शांति को खोजने निकलो और दो कि तुम अशांति को समझो अशांति को समझना बुद्ध का उपाय है जिसने अशांति को समझ लिया वो शांत हो जाता है और जो शांति की तलाश में निकल गया वो और नई नई अशांतियां मोल ले लेता है जीवन को जीने के दो ढंग हैं एक मालिक का और एक गुलाम का गुलाम का ढंग भी कोई ढंग है जीना हो तो मालिक होकर ही जीना अन्यथा इस जीवन से मर जाना बेहतर है कम से कम मर जाना सच तो होगा ये जीवन तो बिल्कुल झूठा है सपना है गुलाम के ढंग से तुमने जी के देख लिया कुछ पाया नहीं यद्यपि पाने ही पाने की तलाश रही अब मालिक के ढंग से जीना देख लो बस शास्त्र बदलना होगा सूत्र बदलना होगा इतना ही फर्क करना होगा अब तक कल के लिए जीते थे अब आज ही जियो अब तक कुछ होने के लिए जीते थे अब जो हो वैसे ही जियो अब तक मूर्छा में जीते थे अब जाग कर जियो होश से जियो और ध्यान रखना प्रत्येक कदम होश का बुद्धत्व को करीब लाता है प्रत्येक कदम होश का तुम्हारे भीतर बुद्धत्व के झरनों को सक्रिय करता है मेघ किसी भी क्षण बरस सकता है तुम जरा संयोजन बदलो और सब तुम्हारे पास कुछ जोड़ना नहीं और कुछ तुम्हारे पास ऐसा नहीं है जिसे हटाना है वीणा के तार ढीले टूटे हैं जोड़ना है व्यवस्थित कर देना है उंगलियां भी तुम्हारे पास हैं वीणा भी तुम्हारे पास है सिर्फ उंगलियों का वीणा पर वीणा के तारों पर खेलने का संयोजन करना है किसी भी क्षण संयम बैठ जाएगा संगीत उत्पन्न हो सकता है आज इतना ही